का परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का पहला अंश आज हमने देखा यह अंश तैत्तीय आरण्य के ब्रह्मानंद वल्ली का है तैतरीय उपनिषद वहीं से निकली है तो तैतरीय उपनिषद में ये वचन मिलता है ब्रह्म का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारी मुख्य आवश्यकता ज्ञान की होती है हमें ज्ञान पर केंद्रित होना होता है ज्ञान को शुद्ध करके ब्रह्मानंद तक हम पहुंच सकते हैं लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हमें किस विधि से करनी चाहिए किस शैली से करनी चाहिए ज्ञान की प्राप्ति में कभी हम ज्ञान देते हैं कभी लेते हैं ज्ञान लेने और देने वाले दोनों रहते हैं तब हमारे बीच परस्पर कैसा व्यवहार हो हमारा कैसा व्यवहार हो कि ये ज्ञान हमें ब्रह्मानंद तक पहुंचा दे उन सबको बताने के लिए ये वचन है और इसमें परमात्मा से कुछ प्रार्थनाएं की गई हैं पहली प्रार्थना है सह नौ अवतु हे परमात्मा हम दोनों परस्पर रक्षा करें ये वचन गुरु शिष्य के बीच में भी बोला जाता है और परमात्मा परक भी हम इसको देखते हैं तो हम एक दूसरे की रक्षा करें सहनऊ भुनकतु हम मिल करके हम दोनों आपस में मिल करके भोग करें संसार के पदार्थों का उपयोग करें महर्षि दयानंद ने यहां भुनत्तु का अर्थ भोग करें किया है शास्त्रीय वचनों में इस प्रकार की बातें होती हैं यहां परस्मयी पद है वैसे परस्मयी पद पालन अर्थ में आता है भुज धातु के पालन और भोजन अभ्यवहरण दोनों अर्थ होते हैं जब पालन अर्थ होता है तो पद होता है और जब खाना अर्थ होता है भोगना अर्थ होता है तो उल्टा हो गया जब खाना अर्थ होता है तो आत्मनिपद होता है और जब पालन अर्थ होता है तो परस्मय पद होता है लेकिन यहां भुनत्व में परस्मय पद होते हुए भी इसका खाना अर्थ महर्षि ने किया है ये व्यत्यय से भी होता है पालन करना दूसरे के सापेक्ष अधिक होता है दूसरे के लिए हम पालन करते हैं और भुनत्तु खाना जो होता है वो अपने लिए अधिक होता है जब हम खाना भोगना करते हैं उसमें हमारे प्रति भाव अधिक होता है तो सामान्यतः अभी वो प्रचलित है लेकिन यहां भुनक्तु परस्मयी पद को भी महर्षि ने भोगने के अर्थ में यहां पर लिया है आगे कहा सह वीरियम करवा भाई हम मिल करके पुरुषार्थ करें मेहनत करें उत्साह करें ज्ञान की प्राप्ति हम मिल करके करें तेजस्विनऊ अधीतम अस्तु नव अधीतम हमारा जो पढ़ा हुआ है जाना हुआ है वो तेजस्वी हो गए प्रकाशित हो वो फैले हमारे आचरण में आए मां विद्विषा भाई और हम आपस में द्वेष न करें विद्वेष न करें यानी प्रेम पूर्वक रहें और ये प्रार्थना किस लिए कि हमारे समस्त त्रिविध दुख आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक समाप्त हो जाए ये प्रार्थना जब परमात्मा से की जाएगी और परमात्मा को हम दोनों में से एक स्वीकार किया जाएगा एक मैं और एक परमात्मा हम तो वहां परमात्मा परक जो ये चीजें कुछ हैं जहां संगत लगती है वहीं लगेंगे परमात्मा को त्रिविध दुखों से छूटना नहीं है वो तो छूटा हुआ है परमात्मा को कोई भोग नहीं करना वो भोगों से परे है परमात्मा के लिए अपनी कोई रक्षा नहीं है क्योंकि वो स्वयं रक्षित है लेकिन इनके भिन्न संदर्भों में हम व्यवहारिक अर्थ भी लेते हैं और गुरु शिष्य के बीच में भी इस मंत्र को इस भाग को वाक्य को हम बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मानंद के लिए प्रतिपादित की गई है महर्षि ने जो व्याख्या लिखी पहले उसकी कुछ बातों को देख लेते हैं परमात्मा को सर्वप्रथम सहनशीलेश्वर कहा है सह का अर्थ लेते हुए परमात्मा को परमात्मा सर्वश्रेष्ठ सहन करने वाला है अनंत काल से हमें सहन कर रहा है सदा हमें सहन करता रहेगा सहनशीलों में सबसे श्रेष्ठ सहनशील परमात्मा है इसलिए सहनशीलेश्वर कहा और आगे एक वाक्य लिखा कि हम क्षण मात्र भी आपको भूल के ना रहे हर क्षण आपका स्मरण हमें बना रहे हर क्षण आपकी आज्ञाओं को हम स्मरण करते रहें हम जो भी करें जो भी सोचें वो आपकी आज्ञाओं के अनुरूप हो एक आर्य ये कामना कर रहा है प्रार्थना कर रहा है चूंकि उसे इस बात का महत्व पता है आगे लिखा एक दूसरे का दुख न देख सकें हमारे साथ में जो भी रहते हैं जो हमारे निकटस्थ हैं संपर्क में हैं उनके दुख को हम भी सहन न कर सकें अपने दुख को तो हम सहन नहीं करते हैं दुख को सहन न करने का मतलब है कि हम दुख को हटाना चाहते हैं वैसे दुख आने पर हम उसे सहन करते हैं वो एक अलग तात्पर्य में है कि हमें कष्ट आते हैं तो भी हमें डटे रहना होता है ये सहन करना तो हमें करना ही है लेकिन दूसरी दृष्टि से कि कोई भी आत्मा दुख को सहन नहीं करता है अर्थात दुख को अपने पास नहीं रखना चाहता वो दुख को हटाना चाहता है यदि वो दुख को सहन कर ले तो वो दुख को हटाना नहीं चाहेगा वो अपने पास ही रखना चाहेगा हम दुख को हटाना चाहते हैं यही इस बात का द्योतक है कि हम दुख को सहन नहीं कर रहे हमें स्वीकार ही नहीं है वो तो जिस प्रकार से हम अपने दुख को सहन नहीं करते हैं अपने दुख को स्वीकार नहीं करते हैं अपने दुख को हटाना चाहते हैं उसी तरह अन्यों के दुख को भी हम स्वीकार ना करें हम उनको दुख ना दें जैसे हम अपने को कभी दुख नहीं देते हम दूसरों की दुख निवृत्ति के लिए भी प्रयत्नशील हों जैसे कि हम अपने दुख की निवृत्ति के लिए होते हैं जैसे हम अपने दुख को स्वीकार नहीं करते ऐसे दूसरे के दुख को भी स्वीकार न करें और आगे लिखा स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यंत परस्पर निर्वैर प्रीतिमान पाखंड रहित करें जिस देश में हम रहते हैं उनके लोगों के लिए विशेष कथन है कि अत्यंत निर्वैर रहें हमें परस्पर विरोध ना हो वैर ना हो भेद ना हो प्रीति युक्त हो और पाखंड से रहित उनको करें महर्षि समस्त वैरों की जड़ पाखंड को स्वीकार करते हैं इसलिए वो पाखंड को मिथ्या बातों को हटाने के लिए लगे रहते थे क्योंकि जो परस्पर द्वेष झगड़ा परस्पर हानि वो इस पाखंड के रहते होती है क्योंकि पाखंड असत्य से युक्त होता है असत्य जहां पर है वहां सब एकमत नहीं हो सकते उसका विरोध होगा ही वो सबको स्वीकार्य होगा ही नहीं जहां भिन्न भिन्न मत संप्रदाय हों पाखंड को फैला रहे हों असत्य मान्यताओं से युक्त हो तो सबको स्वीकार नहीं होगा कुछ किन्हीं कारणों से उसे भले ही स्वीकार कर रहे हो लेकिन सबको स्वीकार नहीं होगा तो उसका विरोध अवश्य होगा सत्य ही वो चीज है जहां की सब एक मत हो सकते हैं एकमत होने की संभावना सत्य में ही है पाखंड रहित स्थिति में ही है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण से सत्य का भी विरोध करते हैं वो एक अलग बात है लेकिन सत्य में ही भेद रहित होने की संभावना है और कहीं हो ही नहीं सकता एक मत वैर रहेगा ही जैसे मोटे तौर पर आज देख सकते हैं आधुनिक विज्ञान विज्ञान जो है जो सत्य के लिए प्रयासशील है विभिन्न परीक्षणों के द्वारा वो सत्य को स्थापित करता है वहां जो बात असत्य सिद्ध तो हो गई उसके लिए कोई स्थान नहीं है जो सत्य है उसको फिर मानते हैं और इसलिए विज्ञान का सबके लिए समान उपयोग है वहां जाके सब एकमत होते हैं ये अलग बात है कि कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों और मान्यताओं का जब खंडन होता है तो विज्ञान का भी विरोध करने लगते हैं लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति आप देखेंगे कि विज्ञान में सब एकमत होते हैं अधिकांश एकमत होते हैं एकमत होने की संभावना वही है जहां सत्य होता है इसलिए महर्षि ने आगे भी लिखा है अस्सीवें पृष्ठ पर जिससे कि हम लोग नाना पाखंड असत्य वेद विरुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के एक सत्य सनातन मतस्थ हों जिससे समस्त वैरभाव के मूल जो पाखंड मत वे सब सत्य प्रलय को प्राप्त हों ये जो विभिन्न पाखंड हैं जो असत्य से युक्त हैं वो वैरभाव का कारण है जब ये सभी सत्य मत को स्वीकार कर लेंगे तो कोई वैर नहीं रहेगा तो दो जगह महर्षि ने इस बात को लिखा एक और बात महर्षि ने लिखी जो इस प्रसंग में स्वदेश स्थादी इसका एक अर्थ अनेक व्यक्ति ये लेते हैं कि महर्षि को अपने देश का अधिक प्रेम था अपना देश यानी भारतवर्ष आर्यावर्त किन यहां स्वदेश आदि आदि शब्द भी लिखा हुआ है औरों का निषेध नहीं है स्वदेशस्थ और परदेशस्थ भी लेकिन मुख्यतः स्वदेशस्थ को देनी है इसको थोड़ा और दूसरी दृष्टि से देखें कि स्वदेश का मतलब भारतवर्ष ऐसा ना लेकर के जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वो देश अपना वो स्थान हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां के पाखंड को हटाना वहां के कष्ट को हटाना हमारे लिए सबसे अधिक उपयुक्त तो होता है अनुकूल होता है हम वहां अधिक कार्य कर सकते हैं हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां के अज्ञान अंधकार को तो हटाने का प्रयास नहीं कर रहे और दूर जा जा करके कर रहे हैं वो अधिक उपयोगी नहीं होता है हम अपने निकटस्थ व्यक्ति का दुख तो दूर नहीं कर रहे लेकिन दूर के किसी व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील है किसमें अधिक श्रम लगेगा दूर वाले में लगेगा और दुख दूर होने पे पुण्य तो उतना ही होना है किसी व्यक्ति को लाभ हुआ यहां वाले को हुआ या बाहर वाले को हुआ दूर वाले को हुआ यदि सब व्यक्ति दूर दूर जाकर के परोपकार कार्य करने लगेंगे तो अधिक आना जाना गतिविधि खर्च श्रम ये होगा यदि सब व्यक्ति जहां जहां रह रहे हैं जिस देश में रह रहे हैं जिस स्थान पर रह रहे हैं जिस गांव में रह रहे हैं जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहीं की चिंता वहीं के सुधार के लिए अधिक लग जाए तो ये समस्त मानव जाति के लिए सरल होगा खर्चा अधिक नहीं होगा आसानी से होगा हम अपने परिवार को भी देख सकेंगे और आसपास वालों को भी देख सकेंगे जब व्यक्ति अधिक दूर जाता है तो वो अपने परिवार को ठीक नहीं देख सकता वो सार संभाल उसकी कम हो जाती है और यदि आसपास में देखता है तो अपने परिवार को भी देख लेता है और दूसरों को भी देख लेता है तो इसमें मानव जाति का हित है कि स्वदेशस्थ के लिए पहले कार्य करें वहां पर लगाए अन्य जगह भी जाना होता है कोई विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनको जाना होता है सब जगह विशिष्ट व्यक्ति नहीं होते तो ये भी करना चाहिए लेकिन मनुष्य मात्र को मनुष्य मनुष्य को जो करना है वो अपने निकट वालों को करना है अपने देशस्थ को करना है इसी में आगे महर्षि एक बात लिखते हैं जहां सहनाऊ भुनकतु उसका अर्थ किया तो हम लोग परस्पर हित से आनंद भोगें हम लोग आनंद भोगें प्रकृति के साधनों का उपयोग करें लेकिन परस्पर हित से एक दूसरे का हित हो मेरा भोग मेरा आनंद दूसरे का अहित ना करे ये सदैव ध्यान रहे मेरा उपभोग मेरा आनंद इस प्रकृति को अत्यंत विनाश न कर दे उसमें हानि ना पहुंचा दे यह हमें ध्यान रखना है ये ऋषियों की दृष्टि वैदिक दृष्टि है केवल अपने आनंद को ध्यान में रखे ये विनाश करने वाली शैली है और जो केवल अपने आनंद में लगता है और उसमें अपना भी हित नहीं देखता अपनी ही हानि करता रहता है ये अत्यंत निकृष्ट भोग की प्रक्रिया है हम भोगें आनंद लें अपना हित ध्यान रखें हम भोगें उस समय दूसरे का हित भी ध्यान रखें हम भोगें हम प्रकृति का भी हित ध्यान रखें पर्यावरण का भी ध्यान रखें उसकी अधिक हानि ना हो इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें ये भोगने का तरीका है ये आनंद लेने का तरीका है और ये हम क्यों लें ऐसा क्यों करें तो उसके लिए महर्षि लिखते हैं कि आप हमको अपने अनंत परमानंद के भागी करें ऐसा करने से परमात्मा हमें अपने अनंत आनंद का भागी बनाता है यदि हम अपने साधनों का उपयोग अपने सुख के लिए ही करेंगे दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखेंगे तो ठीक है हमने अपने साधनों को भोग लिया सुख ले लिया लेकिन इससे परमात्मा हमें अनंत आनंद का भागी नहीं बनाएगा ये वो मार्ग नहीं है जो हमें अनंत आनंद तक पहुंचा देता है उसमें हमें दूसरे का हित ध्यान में रखते हुए आनंद को लेना होता है सुख को लेना होता है उपभोग करना होता है और हितपूर्वक इस संसार का उपयोग आनंद लेना सुख लेना वो मुक्ति में बाधक भी नहीं है वो मुक्ति में साधक है परमात्मा की दी हुई आज्ञा के अनुरूप जब हम इसको भोगते हैं तो ये हितपूर्वक भोगते हैं और वो मुक्ति को देने वाला होता है तो महर्षि का वचन है हम लोग परस्पर हित से आनंद भोगें कि की का मतलब है कि जिससे की परिणाम बताया जा रहा है इससे क्या होगा एक तो सामान्यतः अर्थ करें कि इससे सबकी सुरक्षा रहेगी सब सुखी रहेंगे सब ठीक रहेगा वो तो लाभ है ही लेकिन जो उससे बड़ा लाभ है वो महर्षि कह रहे हैं कि हम कि आप हमको अपने अनंत परमानंद के भागी बने भागी करें उस आनंद से हम लोगों को क्षण भी अलग ना रखें क्योंकि आर्य ये समझ चुका है कि जब हितपूर्वक इन साधनों का उपयोग करते हैं तभी परमात्मा का आनंद सदा मिल पाता है नहीं तो वो टूट जाएगा क्षीण हो जाएगा आगे महर्षि ने वीरियम करवाह वही का परम वीर्य परम बल उसको जो खोला है कहा सत्य विद्या सत्य विद्या सर्वश्रेष्ठ बल है अन्य शरीर का धन का पद का बल वो सब छोटे बल हैं सबसे बड़ा बल सत्य विद्या का है इसलिए परम वीर्य को अर्थ को खोला परम वीर्य जो सत्य विद्या उसको परम पुरुषार्थ से प्राप्त हो संसार में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं सब अपने अपने मान्यताओं को फैला रहे हैं उस स्थिति में ये कामना की जा रही है कि हे प्रभु जो ये सत्य विद्या है ये सबसे अधिक प्रकाशित हो असत्य विद्याओं से अधिक प्रकाशित हो जिससे सबका हित हो इसको हम सब तक अधिक से अधिक पहुंचा सकें तो इस प्रकार ये प्रार्थना की गई इन वाक्यों पर और हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें जो व्याकरण वाली दृष्टि लेकर के कि यहां पर जो क्रियाएं दी गई हैं कुछ परस्मयी पद में हैं और कुछ आत्मने पद में सह नौ अवतु परस्मयी पद सह नौ तु परस्मयी पद सहवीर्यम करवा वही आत्मनिपत तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु परस्मैपद मां विद्विषा वही आत्मनिपत ये सारी क्रियाएं यद्यपि परस्पर की जा रही हैं गुरु शिष्य के बीच में दो के लिए की जा रही है लेकिन कहीं पर परस्मयी पद है और कहीं पर आत्मनिपद है जब हम ये कहें कि हम परस्पर रक्षा करें तो किसकी रक्षा का भाव मन में अधिक होता है अपनी या दूसरे की परस्पर रक्षा की जहां तक बात हो कि हम मिलजुल करके रक्षा रखें हम मिलजुल के रहेंगे तो हम अधिक सुरक्षित रहेंगे दूसरा भी सुरक्षित रहेगा हम भी सुरक्षित रहेंगे लेकिन भाव किसका अधिक रहता है सुरक्षा का जब हम साथ रहते हैं तब अकेले रास्ता चलते यदि कोई एक मिल जाता है दो चार पांच जने मिल जाते हैं तो क्या अधिक संतोष रहता है वो सुरक्षा से यात्रा कर पाएंगे या मैं सुरक्षा से यात्रा कर पाऊंगा हम सब सुरक्षित होते हैं ये तो ठीक है लेकिन अधिक प्रमुखता किसकी रहती है अपनी रहती है सहनऊ भुनकतु जब हम परस्पर खाना खाते हैं भोग करते हैं तो किसकी अधिक रहती है एक अकेला भोग करे एक सबके साथ में करे तो सबके साथ अधिक मिलकर के भोग करते हैं तो क्या होता है हमें अधिक आनंद आता है उपभोग में भी प्रमुखता किसकी रहती है अपने प्रति अधिक रहती है ऐसा रहता है लेकिन करना क्या है परस्पर जब रक्षा की बात आए तो हमें दूसरे की रक्षा का भाव अधिक रखना है जब परस्पर मिलकर के खाने पीने का उपभोग का भाव आए तो हमें किसकी भावना अधिक रखनी है दूसरे की प्रबलता रखनी है ये आर्य का भाव है होता अपना है इन दोनों में लेकिन करना किसका है दूसरे का करना है सहवीरियम करवा वही जब हमें कोई कहता है कि आप इनके साथ मिलकर के काम करो तो वहां किसके लिए अधिक कार्य रहता है जो हम उत्साह करते हैं कार्य करते हैं तो दोनों के लिए होते हुए भी वो कहा जो जाता है वो दूसरे के लिए होता है और हमारे मन में क्या भाव आता है व्यक्ति मिलके काम क्यों नहीं करना चाहता मिलकर के जब मिलकर के जो कार्य नहीं करते उसमें भाव क्या रहता है कि भाई मैं अपने लिए ही करूं मैं दूसरे के लिए क्यों करूं हम दूसरे के लिए प्राय जब कहा जाए कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करो तो वहां प्रयोजन होता है कि आप दूसरे का भी ध्यान रखो उसका हित करो और ये मन में भाव होने से हम दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते तो यहां पद कहा कि जिस समय हम मिलकर के काम करते हैं तब भी हमारा ही अधिक हित होता है हम इस भ्रांति में न रहें कि जब हम दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर तो दूसरों के लिए हो जाएगा वो दूसरों का हित हो जाएगा आर्य को ये भावना रखनी है कि जब मिलकर के काम करेंगे तो भी वो हमारे लिए अधिक होता है हमारे लिए हितकर अधिक होता है तो जिन दो चीजों में हम अपने लिए अधिक सोचते थे उसमें तो कहा गया कि दूसरे का ध्यान रखो उन दो में परस्मयी पद है और जहां हम अपने लिए अधिक सोचते हैं परस्पर कार्य करते समय वहां उपदेश है कि वहां दूसरे का ध्यान रखो नहीं जब हम कार्य करते हैं परस्पर दूसरे का ध्यान रखने की प्रेरणा रहती है तो उसमें कहा कि दूसरे का करते हुए भी इसमें हमारा अधिक लाभ है ये आत्मनिर्भर पहले दो कार्य हम दूसरों के लिए करें अवतु और भुनकतु तो हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी दो बार प्रस्मीपद और फिर अंत में आत्मनिपद जब हम दूसरे की रक्षा अधिक करते हैं वो भाव अधिक होता है दूसरे को उपयोग अधिक देते हैं दूसरा अधिक अच्छे से अच्छा उपभोग करें तो हमारी सामर्थ्य ज्यादा करती है वीरियम करवा वही उसमें हमारा हित अधिक होता है आगे कहा तेजस्विनावधि तमस्तु वैसे पढ़ना पढ़ाना किसके लिए होता है अपने लिए होता है लेकिन जो ये हमारा पढ़ना है ये परस्मयी पद दूसरे के लिए हो गए दूसरों का भाव अधिक है तेजस्वी होने का एक अर्थ है कि जो हमारा पढ़ा है वो हमारे जीवन में आए ये आत्मनिपत परक अर्थ अधिक है लेकिन जो हमारा पढ़ा हुआ है वो प्रकाशित तो वो परस्मयी पद है दूसरों के लिए अधिक जाए ये भाव है और मां विद्विषा भाई जब हमें कोई कहता है कि द्वेष मत करो दूसरों से तो वहां किसका लाभ समझा जाता है हमें कोई कहे कि आप द्वेष मत करो उनसे तो किसका लाभ हमारे द्वेष न करने से किसका लाभ अधिक केंद्रित रहता है दूसरे व्यक्ति का किसी को कहें कि भाई आप उनसे द्वेष मत करो यानी आप द्वेष कर रहे हो आप उनकी हानि कर रहे हो जहां द्वेष छोड़ने की बात आती है वहां लाभ किसमें देखा जाता है दूसरे में देखा जाता है तो यहां आत्मनिपद है कि जब हम द्वेष छोड़ेंगे परस्पर वहां ये ध्यान रखें कि इस द्वेष के छोड़ने से दूसरे का अधिक लाभ नहीं होता उसमें हमारा अधिक लाभ होता है जब हम द्वेष छोड़ते हैं तो उसमें हमारा अधिक लाभ होता है जो व्यक्ति द्वेष करता है वो द्वेष किस लिए करता है दूसरे की हानि करने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ गलत करेगा और जब उससे कहा जाए कि द्वेष छोड़ दो तो किसका हित होगा द्वेष करने से दूसरे को हानि अधिक हो रही थी तो जब द्वेष छुड़वाया तो किसको लाभ होगा दूसरे को ही होगा क्योंकि उसको अधिक हानि हो रही थी द्वेष से अब द्वेष छोड़ दिया तो वो उसको अच्छी बात रहेगी वो थोड़ा अनुकूल रहेगा तो द्वेष छोड़ते समय द्वेष छोड़ने के भाव में हम ये ना समझ लें कि इससे दूसरे का अधिक हित होता है द्वेष को जब हम छोड़ते हैं मां विद्विषा वही तो उसमें हमारा अधिक हित होता है क्योंकि द्वेष करते समय भी हमारा ही अधिक अहित हो रहा होता है वास्तव में हम कैसा समझते हैं वो एक अलग बात है लेकिन हमें उपदेश किस बात का दिया जा रहा है कि इसमें परोक्ष कथन है कि इसमें हमारा अधिक लाभ है दूसरे ढंग से इसको और देख लें कि जिस समय हम एक दूसरे की रक्षा कर रहे हों तो दूसरे की रक्षा का भाव हमारे मन में अधिक प्रबल रहे जब हम साधनों का उपयोग कर रहे हों तो दूसरा अधिक अच्छी तरह ले सके ये भाव हमारे मन में रहे सामान्यतया प्राय करके ये रहे कि दूसरे को ठीक मिले और जब पुरुषार्थ करने का आए वीरियम करवा भाई तो ये भाव रहे कि मैं अधिक कर लू दूसरा अधिक कर ले ये भाव नहीं रहे ये दोष का कारण बनता है जब हम परस्पर रक्षा की बात करते हैं और उस समय जब ये भाव बनता है कि मेरी रक्षा अधिक हो तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब हम उपभोग करने लगते हैं और तब ये भाव आए कि मैं अधिक उपभोग कर लू थोड़ा सा थोड़ा अधिक उपभोग कर लू तो समस्या पैदा हो जाएगी और जब हम कार्य कर रहे हैं वीरियम करवा भाई तब ये सोचने लगे कि दूसरा अधिक काम कर ले तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं प्रथम दो में परस्मयी पद कहा कि जब हम रक्षा की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि दूसरे के का भाव हमारे मन में प्रबल रहे जब उपभोग कर रहे हैं तो दूसरे का भाव प्रबल रहे कि वो अधिक कर ले और जब वीरियम करवा वही मेहनत कर रहे हैं तो ये भाव रहे कि मैं अधिक पुरुषार्थ कर लू इसी तरह से दूसरी पंक्ति में हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी होवे जब हम परस्पर ज्ञान को लेते देते हैं तो ये भाव न रहे कि मेरे को अधिक मिल जाए ये भाव रहे कि दूसरों के लिए अधिक हो जाए मेरे लिए भी होगा लेकिन दूसरों के लिए अधिक हो ये भाव रहे और जब द्वेष की बात हो द्वेश को हटाने की बात हो मां विद्विषा वही तो ये भावना रखें कि दूसरा अधिक द्वेष को कम करे भाई आप अपने द्वेष को कम करो ना जब हम ये जोर देते हैं जब दो व्यक्तियों में परस्पर द्वेष हो रहा हो तो हमारा जोर क्या रहता है सामान्यतः दूसरे के प्रति आप अपने द्वेष को कम करो आप अपने द्वेष को कम करो दोनों एक दूसरे से ये अपेक्षा रखते हैं तो जहां द्वेष हटाने की बात हो वहां हमारी दृष्टि कहां रहनी चाहिए मां विद्विषा वही आत्मनिपद हम अपना उत्तरदायित्व अधिक समझें हम अपने द्वेष को अधिक हटाएं दूसरे से अधिक द्वेष हटाने की अपेक्षा ना रखें हम अपना द्वेष अधिक हटाएं तो इस मंत्र में आर्यों की ये प्रार्थना है आर्यों को ये भाव इस शैली से रखने होते हैं इस तरह की आज्ञा ईश्वर की है इस तरह की आज्ञा निर्देश ऋषियों का है और महर्षि ने इसको यहां पर विस्तार से बहुत सी बातें खोल करके हमारे को बताई किन्हीं को कुछ पूछना हो तो रामदयाल जी तो यहां जो परमात्मा को सर्वप्रथम लिखा है सहनशीलेश्वर तो परमात्मा को कहा आप सहन करने वाले हैं तो इनका प्रश्न है कि परमात्मा किस तरह सहन करता है क्योंकि हम परमात्मा को एक तरफ तो न्यायकारी मानते हैं जैसे हमारे कर्म हैं वैसा फल वो अवश्य देता है तो सहन करना कहां हुआ तो महर्षि ने जहां सत्यात प्रकाश में तेजो सी तेजो मई देही वीरियमसी वीरियमयी देही बलमसी बलम मई देही और सहोसी सहोमयी देही वहां पर ये दिया है उन्होंने तो स्वामी जी ने एक विशेषण वहां दिया स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला स्व अपराधियों को यदि एक आत्मा दूसरी आत्मा का अहित कर रहा है वहां परमात्मा का सहन नहीं है वहां परमात्मा सहन नहीं करता है वो जो उचित दंड देना है वो देगा लेकिन परमात्मा के प्रति जो हमारा अपराध है उसको परमात्मा पूरा सहन करता है परमात्मा के प्रति हमारा क्या अपराध है हम परमात्मा की आज्ञाओं को नहीं मानते ये परमात्मा के प्रति हमारा अपराध है परमात्मा हमारे गलत कर्मों का फल देता है क्योंकि उससे हमने दूसरों की हानि की है दूसरों को बाधाएं खड़ी की हैं लेकिन जो हमने परमात्मा की आज्ञा नहीं मानी ये जो परमात्मा के प्रति अवहेलना की अपमान किया परमात्मा के प्रति अपराध किया परमात्मा इसको सहन करता रहता है फिर फिर हमें अवसर देता रहता है हमारे से अवसर नहीं छीनता है ये परमात्मा हमें सतत सहन करता है अना अनादि काल से सहन कर रहा है और अनंत काल तक सहन करता रहेगा वो सहनशीलेश्वर है जैसे हम अन्यों के प्रति कुछ अपराध कर देते हैं मनुष्यों के प्रति प्राणियों के प्रति उनको कुछ हानि पहुंचा देते हैं अन्यायपूर्वक हानि पहुंचाते हैं ऐसी तो हम परमात्मा की हानि कर ही नहीं सकते उसकी हो ही नहीं सकती हम करना भी चाहें तो उस रूप में परमात्मा के प्रति कोई अपराध नहीं होता किंतु परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन उसकी आज्ञाओं को न मानना यह परमात्मा के प्रति अपराध है और परमात्मा हमारे इस अपराध के कारण हमें प्रगति का अवसर देना बंद कर दे ऐसा कभी नहीं होता वो अवसर देता ही रहता है देता ही रहता है देता ही जाएगा देता ही जाएगा कितना ही कोई दुष्ट हो उसको फिर इतर योनियों में भेजेगा कर्म क्षय होंगे फिर मनुष्य जन्म देगा फिर अवसर देगा तो परमात्मा स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला है ये महर्षि का वचन ध्यान देने योग्य है दूसरों को क्षमा करने की बात करेंगे तो नहीं बनेगी वो वो सिद्धांत विरुद्ध भी हो जाएगी स्वामी जी ये हो गया इसका किस तरह के अपराध माने जाएंगे अपराध तो पता ही नहीं लगेगा कि ईश्वर कैसा अपराध क्षमा करता है और कैसा दंड देता है किस अपराध का ये बताया ना अभी दूसरों के प्रति जो हम अपराध करते हैं उसमें भी परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होता है लेकिन जब जब हम दूसरे के प्रति अपराध करते हैं दूसरे को दुख देते हैं कष्ट देते हैं अन्याय करते हैं इन सबको परमात्मा कभी सहन नहीं करता उसका दंड यथोचित अवश्य दे देता है लेकिन परमात्मा के प्रति जो इसमें अपराध हुआ उसकी अवहेलना हुई उसको हमने अपमानित किया उसकी बात को नहीं माना ये भी तो एक अपराध है जो हमारे लिए सब कुछ इतना कर रहा है सदैव हमारे लिए हितकर है उसकी बात को न मानना कृतज्ञता है बहुत बड़ा अपराध है उसको परमात्मा सदैव सहन करता है उसके लिए कोई अलग से दंड नहीं देता जैसा कि यहां लोक में हम दे देते हैं कोई हमारी बात नहीं माने अधिकारी की बात नहीं माने छोटा बच्चा बड़े की ना माने तो उसने कुछ गलत किया हो वो एक अलग बात है लेकिन बात नहीं मानी इसका भी वो अलग से दंड दे ऐसा लोक में देखा जाता है परमात्मा की ओर से नहीं कोई परमात्मा को ना माने कोई परमात्मा को गालियां दे अपने कष्टों के लिए सब कुछ परमात्मा को ही जिम्मेदार माने बुरा भला कहे परमात्मा को तूने मेरे यहां पर ये कष्ट कर दिए हैं ये कर दिए हैं अन्याय पूर्वक परमात्मा पे दोषारोपण करे इसका परमात्मा दंड नहीं देगा इसको परमात्मा सहन करता है और सहन करने का एक दूसरा अर्थ होता है कि सुख दुख मान अपमान से रहित होते हुए तटस्थ रहना वो भी सहन करना होता है तो चाहे परमात्मा के लिए हम कुछ भी करें परमात्मा उससे विचलित नहीं होता सुखी दुखी नहीं होता जैसा है वैसा रहता है ये भी सहन करने का एक अर्थ लिया जा सकता है तो जो हमने गाली भी देते हैं परमात्मा को तो संस्कार तो बनेंगे संस्कार बनेंगे संस्कार तो हर अच्छी बुरी चीज के बनेंगे लेकिन परमात्मा उसका दंड नहीं देगा कर्माशय के रूप में कि आपने ये गलत कार्य किया और इसका मैं दंड दूंगा आपको उससे कोई कर्माशय नहीं संस्कार तो बनेगा कुछ संस्कार तो बनेगा लेकिन उससे कोई कर्माशय बन करके फिर हमें दंड मिले उन अंशों में परमात्मा की सहनशीलता स्व अपराधियों को क्षमा करना ये बात घटा सकते हैं नहीं तो हम कहीं घटा ही नहीं पाएंगे परमात्मा की सहनशीलता को कहां घटाएंगे सहोअसी कहना व्यर्थ है सहनशीलेश्वर कहना व्यर्थ है हम केवल इतना कह दें कि परमात्मा सुखी दुखी नहीं होता उतने मात्र से नहीं वो भी एक है सहन का अर्थ लेकिन ये भी एक अर्थ है स्वामी जी शांत मतलब करता है ईश्वर जीवन काल तक तो सहन करता है लेकिन मृत्यु के बाद देता है इतने दिन तक सहन किया नहीं परमात्मा तो इस जन्म में भी सहन कर रहा है हमारे तो तो हाँ आज भी देता है दोनों बातें हैं परमात्मा के लिए परमात्मा तत्काल भी दे सकता है कुछ काल बाद में भी जन्म जन्मांतरों के बाद भी जैसे मनुष्य भी हर चीज का दंड हम तत्काल नहीं देते कुछ बाद में भी देते हैं वर्षों बाद देते हैं ये तो मनुष्यों में भी घटता है परमात्मा में भी घटता है तो केवल इस आधार पर कि परमात्मा तत्काल नहीं देता इसलिए उसको सहनशील कहें ये तो नहीं वो तत्काल भी देता है और आगे भी देता रहता है जो ईश्वर की उपासना नहीं करता हाँ तो उसको अपराध उपासना न करना अगर परमात्मा का कोई अपराध कर रहे हैं हम उसकी यथा योग्य परिचर्या नहीं कर रहे हैं तो अपराध ही है महर्षि ने तो इसको कृतज्ञता कहा है और कृतज्ञता को सबसे बड़ा पाप माना है उस रूप में परमात्मा के प्रति अपराध है उस रूप में नहीं मिलना चाहिए मेरी समझ से जो कर्माशय वाला है कर्माशय वाला जो दंड है कि उससे हमारा पाप बनेगा कर्माशय बनेगा हानि तो होगी दोष तो होगा हम अच्छे संस्कार नहीं बना पाएंगे या बुरे संस्कारों की तरफ चले जाएंगे और उसके कारण हम बुरे कर्म करने लग जाएंगे उस परंपरा में तो होगा किंतु जब हम कर्माशय बनने ना बनने वो वाला दंड व्यवस्था ईश्वर की न्याय व्यवस्था को तो देखेंगे तो क्योंकि जब हम ईश्वर को सहन करने वाला मानते हैं तो जो आक्षेप आता है वो ये आता है सीधे सीधे कि जब वो न्यायकारी है कर्मों का फल यथावत देता ही है तो फिर सहन क्या किया उसने दंड तो उसने दिया तो सहन क्या किया उसने वहां पर अपने आप में वो सुख दुख से रहित है तटस्थ है वो एक अलग बात होगी हमारे प्रति उसने क्या परिवर्तन किया कहा हमारे को सहन कर रहा है वो जैसे कोई छोटा बच्चा त्रुटियां कर रहा हो और मां कुछ बातें सहन करती है अब छोटा बच्चा माँ पे पैर रख दे माँ के यूं ही आंख में हाथ डाल दे कुछ और दिक्कत कर दे छोटी मोटी बाधा कर ले यूं उसको नोचने लग जाए छोटा शिशु हो तो माता उसको वैसे दंड नहीं देती उसको हटा देती है समझदार भी करे तो फिर दंड भी देती है लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां माता कुछ भी नहीं करती पिता कुछ भी नहीं करता अन्य भी छोटा बच्चा हो तो वहां वो कुछ नहीं करता है उसको छोड़ देते अज्ञानता को मान करके नादानी को मान करके छोड़ देता है उसको और उससे कोई हमारे फर्क भी नहीं पड़ रहा छोड़ देता है उसको हाँ मंत्र के ऊपर जैसे आपने कहा आपने तो तो पूछना चाहता हूँ इसमें जो पर आत्मन पद में रखा है करवा हुआ और हुआ तो ये तो उत्तम पुरुष में रखा है बाकी जो है प्रथम पुरुष एक वचन में रहता है तो ऐसे लगता है कि ये तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हम दोनों की रक्षा करें क्योंकि नहीं तो यदि होता केवल परस्मी पद के आधार पर यदि देखेंगे तो उसका अर्थ तो ये होगा कि हम्म, उत्तम पुरुष द्विवचन विवचन होना चाहिए था उसमें जैसे अन्य में उत्तम पुरुष विवचन हुआ आत्मनिपद में हम्म। जैसे यहाँ भी उत्तम पुरुष विवचन और परस्मय पद होना चाहिए था तो इससे पता लगता है कि ये जो तीन प्रार्थना की ये ईश्वर से हम करते हैं हम्म। बाकी जो आत्मनिर्भर का तो है वो हमारा परस्पर का हमारा परस्पर का मतलब गुरु शिष्य का हाँ। महर्षि ने तो इसका अर्थ पूरा परमात्मा पर रख परमात्मा पर रख लिया है और सामान्यतया जब हम पढ़ने पढ़ाने में करते हैं तो इन सब का उपयोग हम गुरु शिष्य के बीच में भी करते हैं पूरे का सबका और महर्षि ने इसका सारे का किया है वो भी एक दृष्टि हो सकती है जो आप बात को रख रहे हैं कि क्यों यहां पर भुनक्तु में जो है यानी पुरुष की दृष्टि से जो आप कह रहे हैं तो ले सकते हैं और उसमें हम भवान और त्वम या अहम उनका अध्यार करके भी इसका समाधान कर सकते हैं कि किस का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी एक उस दृष्टि से भी किया जा सकता है एक तो अभ्यस है सात अर्थ में आता है हाँ। और एक सौ धातु से बनता है तो यहाँ तो महर्षि ने जो सहनशीलेश्वर अर्थ लिया है वो सहन धातु वाला लिया है हाँ वो अर्थ तो सब जगह लिया ही है लेकिन यहां उन्होंने सह का अर्थ धातु वाला भी लिया है वो भी लिया है और परस्पर वाली बात भी मुख्य तो ये परस्पर वाला ही है आगे जो सारा रह, बोल, बोलते रहे अर्थ किया है महर्षि ने तो धातु वाला अर्थ नहीं तो हाँ हाँ नहीं नहीं किया ना महर्षि ने वैसा केवल एक ऊपर संबोधन पहला सहनशीलेश्वर बाकी सह का मतलब साथ अर्थ में ही सब जगह किया है उन्होंने ठीक है तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे आज के आर्यों के अभिविनय को मन में बैठाने का भाव रखेंगे अंतरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वम् शान्तिः शान्तिरेव शांति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः